Osho Sarvasar Upanishad on Sarvasar Upanishad Jagannath meditation camp Matheran India discourse number fourteen वाली शक्ति को माया कहते हैं उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता ये माया अज्ञान रूप और मिथ्या है पर मूल मनुष्यों को तीनों कालों में वो वास्तविक ही जान पड़ती है इसलिए ये कहकर कि वो ऐसी ही है उसका यथार्थ रूप समझाया नहीं जा सकता यथार्थ को समझने में बड़ी सरलता हो सकती थी यदि दो ही रूप होते अस्तित्व के सत और असत हम कह सकते किसी चीज को कि है और कह सकते कि नहीं है ऐसे दो स्पष्ट विभाजन होते जीवन के अस्तित्व के तो कठिनाई जरा भी नहीं थी लेकिन एक और कोटि भी है अस्तित्व की जिसे हम कह नहीं सकते कि है और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है उससे ही सारा उलझाव पैदा होता है जैसे राह के सांझ के अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी आपको सांप दिखाई पड़ गई ये जो सांप आपको दिखाई पड़ गया है ये है या नहीं काश सरलता होती और हम स्पष्ट कह सकते कि नहीं है या कह सकते कि है तो उलझाव कोई भी नहीं था लेकिन रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ गया है वो एक अर्थ में नहीं है क्योंकि खोजने पर रस्सी हाथ आती है सांप हाथ में नहीं आता लेकिन एक अर्थ में है क्योंकि दिखाई पड़ा है और दिखाई पड़ा है ऐसा ही नहीं जिसे दिखाई पड़ा है वो भागेगा भी गिर भी सकता है चोट भी खा सकता है हृदय की धड़कन उसकी बढ़ जाएगी पसीने से तरबतर हो जाएगा और अगर कभी लौट कर ना आए और खोजे ना तो सदा इसी ख्याल में जिएगा कि सांप था तो जो नहीं था उसके कारण आदमी दौड़ सकता है क्या जो नहीं था उसके कारण पसीना बह जाता है जो नहीं था भय से हृदय कप जाता है जो नहीं था क्या उससे भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं अगर घट सकती हैं तो उसे किसी अर्थ में होना तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि जिसके न होने पर भी होने में घटनाएं घट गट जाती हैं उसके अस्तित्व को एकांतता इंकार करना असंभव है रात सपने में देखते हैं आप एक एक भयानक स्थिति नींद खुल जाती है और जान लेते हैं कि सपना था लेकिन हृदय की धड़कन इससे कम नहीं हो जाती हाथ पैर कपते ही चले जाते माना कि सपना था और अब तो जान भी लिया कि सपना था लेकिन वास्तविक हृदय अभी भी कपा जा रहा है और घबराहट जारी और नींद के लौटने में थोड़ा समय लगेगा तो जो अवास्तविक होकर भी वास्तविक पर प्रभाव डाल पाता है उसे ऋषि कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा कह दें कि वो नहीं है तो अनुचित होगा और मजे की बात यह है कि वो जो ये तीसरी कोटि है वो इतनी प्रभावी है कि सारा जीवन उसी से उतप्रोत है इसलिए उसे इंकार नहीं किया जा सकता ये जो तीसरी कोटि है इतनी महत्वपूर्ण है कि सारा जीवन हमारा उसी के इर्द गिर्द निर्मित होता है और चलता है इसलिए भारत ने एक नए शब्द का आविष्कार किया वो है माया माया ना तो सत है ना असत माया दोनों के मध्य में है वो एक अर्थ में नहीं है और एक अर्थ में है माया उसे नाम दिया है इसीलिए क्योंकि तो माया का अर्थ वस्तुता होता है जैसे एक जादूगर एक वृक्ष को बड़ा करता है आंखों के सामने हजारों आंखों के सामने वृक्ष बड़ा होने लगता है हजारों आंखों के सामने क्षण भर में ही उसमें फल लगने लगते हैं फल बड़े हो जाते हैं जो देख रहे हैं वो सभी जानते हैं ये हो नहीं सकता ये है नहीं और फिर भी दिखाई तो पड़ता है माया का मौलिक अर्थ है भ्रांति की कला माया का मौलिक अर्थ है जादू मैजिक उसका अर्थ है कि जो नहीं है वो भी दिखाई पड़ सकता है इसकी संभावना है और इससे उल्टी संभावना भी है कि जो है वो नहीं दिखाई पड़ सकता है इसकी भी संभावना है जो है वो छिप सकता है और जो नहीं है वो प्रकट हो सकता है तीन स्थितियां हैं जो नितांत नहीं है जिसकी भ्रांति भी नहीं हो सकती जो नितांत है उसकी भी भ्रांति नहीं हो सकती लेकिन जो एक दृष्टि से है और एक दृष्टि से नहीं है उसकी भ्रांति हो सकती है वो तीसरा अस्तित्व का रूप भी है उस रूप का नाम माया है ये तो माया का शाब्दिक अर्थ है इसकी इसके परिधि को हम ठीक से समझ लें तो फिर इसके जीवन में क्या क्या आयाम खुलते हैं वो हमारे ख्याल में आ जाए जो है वो सदा से है उसका कोई आदि नहीं उसका कोई प्रारंभ नहीं और उसका कोई अंत भी नहीं क्योंकि वो सदा रहेगा जो नहीं है नितांत नहीं है उसका भी कोई आदि नहीं क्योंकि जो है ही नहीं उसका प्रारंभ कैसे होगा और उसका कोई अंत भी नहीं होगा क्योंकि जो है ही नहीं उसकी समाप्ति क्या होगी माया का प्रारंभ है और प्रारंभ नहीं है अंत है ये दोनों के बीच की कोती है इसका प्रारंभ नहीं है ये सदा से लेकिन इसका अंत है से हम ऐसा समझें अंधेरा है अंधेरा सदा से है लेकिन अंधेरे का अंत हो सकता है प्रकाश जला और अंधेरा नहीं हो जाता प्रकाश जलता है और अंधेरा नहीं हो जाता अंधेरे का प्रारंभ कोई भी नहीं कि अंधेरा कब प्रारंभ हुआ वो अनादि है वो सदा से है लेकिन उसका अंत होता है प्रकाश जलता है उसका अंत हो जाता है माया की जो तीसरी श्रेणी है अस्तित्व में वो सदा से है अंधेरे की तरह जब व्यक्ति जागता है चैतन्य में तो उसका अंत हो जाता है जब प्रकाशित होती है चेतना तो वो अंधेरा कट जाता है ये जो माया है ये एक विस्तीर्ण स्वप्न है स्वप्न की एक खूबी है कि जब वो होता है तो वास्तविक मालूम होता है जब तक होता है तब तक वास्तविक मालूम होता है हम सभी ने स्वप्न देखे और हर सुबह हमने पाया है कि स्वप्न झूठा था लेकिन फिर आज रात जब स्वप्न देखेंगे तो देखने में स्वप्न पुनः वास्तविक हो जाए स्वप्न में कभी याद नहीं आती कि जो देख रहे हैं वो झूठा है आ जाए याद तो स्वप्न टूट जाए स्वप्न की एक आंतरिक खूबी है कि जब वो होता है तब बिल्कुल वास्तविक होता है वास्तविक प्रतीत होता है रंच मात्र भी शक पैदा नहीं होता जरा सा भी संदेह नहीं उठता बड़े बड़े संदेहशील लोगों में भी जो जगत पे संदेह कर सकते हैं कि है या नहीं स्वप्न पर संदेह नहीं कर पाते पश्चिम का बड़ा विचारक हुआ बर्कले वो कहता है कि जगत पर मुझे शक है कि ये है भी या नहीं क्योंकि हो सकता है एक बड़ा सपना हो मैं कैसे भरोसा करूं कि आप यहां बैठे हैं सच में हो सकता है मैं सिर्फ एक स्वप्न देख रहा हूं कैसे पक्का करूं कि जिनको मैं देख रहा हूं वो है ही हो सकता है मैं स्वप्न में उनसे बोल रहा हूं स्वप्न भी तो इतना ही वास्तविक होता है जितने आप यहां वास्तविक हैं तो बर्कले कहता है क्या भरोसा क्या पक्का कि आप हैं स्वप्न को भी हम इसीलिए स्वप्न कहते हैं कि सुबह टूट जाता है लेकिन जिसे हम जागरण कह रहे हैं ये भी तो सांझ टूट जाता है सुबह स्वप्न से जागते हैं तो पता चलता है झूठ था खो गया रात्रि सम्राट थे सड़क के भिखारी हैं सुबह लेकिन दिन भर सड़क के भिखारी रहने पर रात जब नींद आती तब ये भिखारीपन भी तो इतना ही भूल जाता है रात कहा याद रह जाती है कि भिखारी थे नींद में सम्राट और भिखारी में कोई फर्क रह जाता रात सम्राट भी तो सपने में याद नहीं रख सकता कि मैं सम्राट हूँ वो भी तो दिन का सपना सांझ के होते ही डूब जाता है तो फर्क क्या है एक सपना सुबह टूटता है एक सांझ टूटता है रात के सपने में दिन को हम भूल जाते हैं दिन के सपने में रात को हम भूल जाते हैं अंतर क्या है तो बर्कले कहता है मैं कैसे भरोसा करूं कि मेरे बाहर कोई अस्तित्व है ये बड़े मजे की बात है लेकिन बर्कले भी सपने में ये याद नहीं रख पाता है कि जो है वो कहीं संदिग्ध तो नहीं जागते में संदेह संभव है सोते में संदेह भी संभव नहीं बड़े से बड़ा नास्तिक भी स्केप्टिक भी संदेहवादी भी सपने में संदेह नहीं कर पाता सपने की माया बड़ी अद्भुत है जागने का भी इतना प्रभाव नहीं मालूम होता जागना भी कम प्रभावी मालूम पड़ता है क्योंकि हम संदेह कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि पता नहीं जो दिखाई पड़ता है वो है भी या नहीं लेकिन स्वप्न की माया अद्भुत है स्वप्न में हम पूरी तरह खो जाते डूब जाते और ऐसी चीजों को भी मान लेते हैं जिनको कि तर्क बिल्कुल नहीं मान सकता लेकिन स्वप्न में कोई तर्क ही नहीं रह जाता अगर तर्क रह जाए तो संदेह भी रह जाए स्वप्न में आप देखते हैं मित्र खड़ा खड़ा सामने अचानक घोड़ा हो जाता है और इतना भी शक नहीं आता कि ये कैसे हो स्वप्न में कभी शक नहीं आता स्वप्न बड़ा आस्थावान है स्वप्न की आस्था परम परम श्रद्धालु भी जीवन में इतने श्रद्धालु नहीं होते जितने परम नास्तिक भी स्वप्न में श्रद्धालु हो जाते इससे भी शक पैदा नहीं होता कि सामने खड़ा खड़ा मित्र क्षण में अचानक घोड़ा हो गया और इतना भी मन में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है स्वप्न सभी कुछ मान लेता है स्वप्न के पास तर्क नहीं स्वप्न की ये खूबी है कि स्वप्न में संदेह नहीं हो सकता स्वप्न में जो भी दिखाई पड़ता है वो स्वप्न के रहते तक वास्तविक होता है स्वप्न में कुछ भी घटित हो जाए तो असंगति नहीं मालूम पड़ती एक आंतरिक संगति का फैलाव है जो स्वप्न की खूबी है वही माया की भी ऐसा समझें कि माया जागता हुआ स्वप्न इसलिए जितनी माया से घिरा चित्त हो उतना ही माया पर संदेह करना कठिन होता है माया पर संदेह नहीं आता और माया बिल्कुल वास्तविक मालूम पड़ती है एक चेहरा आपको सुंदर मालूम पड़ता है और ऐसा लगता है कि इस चेहरे के लिए जीवन दिया जा सकता है मजनू को लैला जैसी दिखाई पड़ती है वैसी किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती सारा गांव मजनू की पीड़ा से पीड़ित था गांव के नरेश ने मजनू को बुलाया और कहा तू बिल्कुल पागल है जिसे तू पता नहीं क्या समझ रहा है साधारण सी बहुत साधारण सी लड़की है उसके लिए दीवाना क्यों और तुझ पे मुझे भी दया आ गई क्योंकि गांव में मजनू रोता फिरता है चिल्लाता फिरता है आंसू बहते रहते हैं द्वार द्वार दरवाजे खड़े होकर लैला लैला पुकारता है सम्राट के कानों तक खबर पहुंच गई उसने भी देखा है उसकी पीड़ा को अनुभव किया है प्रमाणिक है उसका रुदन वास्तविक है तो दया आ गई है उसने दस बारह सुंदर लड़कियां महल की बुला के खड़ी कर दी कहा कि तू कोई भी चुन ले इस लैला को भूल मजनू उन बारह लड़कियों के पास गया वे सुंदर तुम लड़कियां थी उस राज्य की लेकिन मजनू ने कहा लैला इनमें कहा तो लैला के पैर की धूल भी नहीं सम्राट ने कहा तू या तो पागल है होश में नहीं है तो क्या कह रहा है इन लड़कियों को तू लैला से लैला की पैर की धूल बता रहा है मजनू ने कहा निश्चित सम्राट ने कहा लैला को मैंने भी देखा है अति साधारण लड़की है मजनू ने कहा लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए मगर ये आंख मजनू की जो आंख है ये क्या कर रही होगी लैला के साथ ये आंख लैला को कुछ दे रही है जो लैला में नहीं ये आंख कोई सपना लैला पर फैला रही है ये आंख कोई माया का सृजन कर रही है लैला के आसपास जो लैला में नहीं मजनू जिस लैला को जानता है उसमें लैला कम है और मजनू ज्यादा है दस प्रतिशत भी हो तो बहुत लैला नब्बे प्रतिशत मजनू संभावना तो यह है कि एक ही प्रतिशत होगी निन्यानबे प्रतिशत मजनू वो जो देख रहा है वो उसका ही प्रक्षेपण उसका ही प्रोजेक्शन वो उसने ही फैलाया है वो उसका ही मन है जो एक स्वप्न को निर्माण कर रहा है लेला के चेहरे के आसपास लेला की देह के आसपास एक सुगंध का एक सौंदर्य का एक संगीत का ताना बाना बुन रहा है वो मजनू का मन जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से तार को निकालती है और जाल बुनती है वैसे ही आदमी का मन माया को बुनता है अपने ही भीतर से निकालकर बाहर सहारे लेने पड़ते हैं बस जैसा मकड़ी को भी लेने पड़ते जाला मकड़ी बुनती है तो कहीं दीवार में अटकाती है कहीं द्वार में अटकाती है बस इतनी खूंटियों का सहारा है बाकी सारा जाला उसका अपना है मनुष्य भी जिस माया को रस्ता है उसमें बाहर खूंटियों का सहारा लैला बस खूंटी है और जो लैला दिखाई पड़ रही वो मजनू का अपना जाल है माया का अर्थ है मनुष्य के मन की क्षमता है कि वो अपने चारों तरफ स्वप्न को गूंथ ले और बड़े मजे की बात है कि मकड़ी जिस जाले को बुनती है फिर उसी पर चलती है उसी पर जीती है उसी में रहती है अपने ही भीतर से निकालती है जिस जाले को वही उसका पथ बन जाता वही उसका मार्ग है वही उसका घर है वही उसके भोजन का उपाय है वही उसकी आजीविका है उसी जाल में फंसकर उसका भोजन आने वाला है और वो जाल उसने स्वयं फैलाया और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी जाल में मकड़ी स्वयं भी फंस जाती और निकलना मुश्किल हो जाता कभी जाल उलझ जाता है हवा के किसी झोंके में मकड़ी के ऊपर ही पड़ जाता है कभी जाल टूट जाता है और मकड़ी अधर में लटक जाती है और मजा ये कि वो उसके ही उधर का खेल था उसके ही पेट से निकला था सब और उसी को डुबा लेता है और कभी ऐसा हो जाता है कि मकड़ी ऐसी फंस जाती है अपने ही जाल में कि बाहर नहीं निकल पाती वही जाल जो उसके जीवन था किसी दिन उसकी मौत बन जाता है माया का अर्थ है मनुष्य के मन की क्षमता अपने चारों ओर एक स्वप्न जगत निर्मित करने की इस स्वप्न में सुख भी बहुत है अन्यथा हम निर्मित ना करें इस स्वप्न में सुख भी बहुत है अन्यथा हम क्यों निर्मित करें इस स्वप्न में दुख भी बहुत है अन्यथा क्यों कोई बुद्ध क्यों कोई महावीर इसे तोड़ने चले इस स्वप्न में सुख है उतना ही जितनी देर तक हम इस सपने को देख पाते हैं लेकिन बड़े मजे की बात है कि जिस पर हम ये सपना देखते हैं वही सपने को तोड़ने का कारण बनना शुरू हो जाता क्योंकि वो हमारे सपने के अनुकूल कतई नहीं है उसका अपना अस्तित्व है उसके अपने सपने एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ बहुत प्रीतिकर बहुत सुंदर मन भावक मेरा सपना उस पर फैलाता था तो जरूरी नहीं कि वो भी मुझ पर अपना सपना फैलाए इसलिए प्रेमी तकलीफ में पड़ते हैं मुझसे प्रेमी आके पूछते हैं कि मैं इतना प्रेम करता हूँ फला व्यक्ति को लेकिन वो मुझे प्रेम क्यों नहीं करता कोई अनिवार्य नहीं है उसे अपना सपना फैलाने की स्वतंत्रता है वो आपको खूंटी बनाए ना बनाए उसने कोई और खूंटी चुनी हो जबरदस्ती नहीं है वो अपनी खूंटियों पर जाला बुन रहा है आप उसकी खूंटियों पर जाला बुन रहे हैं कहीं ना कहीं उपद्रव होने ही वाला है कहीं आपका जाला उसे बंधन मालूम पड़ेगा कहीं उसका जाला कहीं और बुनना आपके लिए पीड़ादायी हो जाएगा और ये भी हम मान लें कि दो व्यक्ति एक दूसरे पर अपना जाला बुनते हैं वो तो भी अपना अपना जाला बुनते हैं इसलिए संघर्ष अनिवार्य हो जाता है पीड़ा अनिवार्य हो जाती है रास्ते कटते हैं अपेक्षाएं टूटती हैं सपना खंडित होता है दोनों की अपनी योजनाएं हैं आंतरिक सपने फैलाने की ऐसा हम समझें कि एक ही पर्दे पर दो प्रोजेक्ट लगाकर दो लोग दो तरह की फिल्में चला रहे हैं एक ही पर्दे पर तो मुश्किल होने वाली और सब गडमड भी हो जाने वाला कुछ दिखाई पड़ने वाला नहीं मगर यहाँ मामला दो का नहीं है यहाँ ऐसा मामला है कि एक एक पर्दे पर दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस लोग फिल्में चला रहे हैं सब कंफ्यूजन हो जाता है सब विभ्रम हो जाता है कुछ हाथ नहीं पड़ता दुख ही दुख हाथ पड़ता है सब सपने भंग हो जाते हैं डिस इल्यूजनमेंट के अतिरिक्त स्वप्न भंग के अतिरिक्त हाथ में राख के अतिरिक्त टूटे हुए जालों के अतिरिक्त अंत में आदमी की संपदा कुछ भी नहीं होती मन की ये क्षमता दोहरी है इसका एक हिस्सा तो प्रक्षेपक है प्रोजेक्टिंग है कि हम किसी भी विचार को किसी भी भाव को किसी भी कल्पना को फैलाने के लिए क्षम और दूसरी क्षमता इस प्रोजेक्शन की ऑटो हिप्नोसिस की है आत्मसम्मोहन की है हम खुद ही फैला देंगे और फिर हम खुद ही सम्मोहित हो जाएंगे पहले हम रख देते हैं सौंदर्य एक चेहरे में हम ही और फिर हम ही प्रलोभित हो जाते ये दूसरा हिस्सा है उसका आत्मसम्मोहित होने का पहले हम कहते हैं सुंदर हो ये हम ही निर्माण करते हैं सौंदर्य अब तक सौंदर्य की कोई परिभाषा नहीं खोजी जा सकी कभी खोजी भी नहीं जा सकेगी क्योंकि सौंदर्य व्यक्ति प्रक्षेपण वो कोई वास्तविक तथ्य नहीं इसलिए युग बदलता है फैशन बदलती है सौंदर्य के मापदंड बदल जाते हैं कभी चपटी नाक भी सुंदर होती है कभी लंबी नाक सुंदर हो जाती है कभी गोरा चेहरा सुंदर होता है कभी सांवला चेहरा सुंदर हो जाता है कृष्ण और राम को हमने सांवला रखा उस वक्त सांवला रंग सुंदर कम था वे थे कि नहीं सांवले इसका कुछ पक्का पता नहीं लेकिन उस समय सांवले रंग की जो कदर थी वो फिर कभी नहीं रही सांवले में ही सलोनापन था उस समय इसलिए कृष्ण को हम गोरा नहीं बना पाए नाम ही कृष्ण रखा श्याम रखा वो सब काले के प्रति पर्यायवाची अभी हम सोच ही नहीं सकते कि काले में क्या सौंदर्य क्योंकि सफेद रंग बहुत प्रभावी है इधर सौ डेढ़ सौ वर्षों से सारी दुनिया पर तो जब हम कहते हैं कि सांवला सुंदर है तो कहीं शक मालूम पड़ता है हालांकि बहुत देर नहीं लगेगी क्योंकि अमेरिका की सुंदरियां सांवले होने की बड़ी चेष्टाओं में संलग्न समुद्र तटों पर लेती हैं कि किसी तरह धूप थोड़ा सांवला कर जाए क्योंकि सफेदी सफेद बहुत हो तो वो भी उग दे जाता है और सफेद थोड़ा उथला मालूम पड़ता है नदी जरा गहरी होती तो सांवली हो जाती उथली होती तो सफेद होती झाग होता है सांवले में थोड़ी सी डेफ्थ थोड़ी सी गहराई मालूम पड़ती है परत भी भीतर की झलक देती है सफेद फ्लैट हो जाता है मगर ये भी युग के साथ बदलता रहती है धारणा कभी सफेद बहुत प्रीतिकर हो जाता है फिर हम उससे उग जाते हैं फिर सांवला प्रीतिकर हो जाता है कोमे हैं जो स्त्रियों के घोटे सिर पसंद करती हैं हम सिर्फ सन्यासियों के सिर घोटते हैं और वो सिर्फ इसलिए उनको कुरूप बनाने के लिए और कोई कारण नहीं क्योंकि सन्यासी को सुंदर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए क्योंकि वो सुंदर का जो जगत है उसके बाहर जा रहा है लेकिन कोने हैं अफ्रीकन आदिवासी हैं जो स्त्रियों के सिर घोटते हैं पुरुषों के नहीं घोटते क्योंकि पुरुष बिना सौंदर्य के भी चल जाएगा स्त्रियों के सिर बहुत हैं क्योंकि घुटा हुआ सिर ही सुंदर है और शायद उनकी बात भी किसी अर्थ में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कहते हैं जब तक सिर ना घुटा हो तब तक खोपड़ी की बारीकियों का कोई पता नहीं चलता नीचे ऊंची खोपड़ी हो तो बालों में ढकी रहती है तो कुरु खोपड़ी भी ढकी रह जाती है जब खोपड़ी बिल्कुल साफ होती तब पता चलता है कि सच में आकार है उसमें अनुपात है अन्यथा धोखा हो सकता है क्या है सौंदर्य हम ही प्रक्षेपित करते हैं हम ही प्रक्षेपित करते हमारी ही धारणा को हम फैलाते फिर हमें सुंदर दिखाई पड़ने लगता है और सुंदर से हम फिर मोहित हो जाते तो पहले तो हम प्रक्षेपण कर लेते हैं एक बात को पर्दे पर पहुंचा देते हैं अपने ही भीतर से निकाला हुआ भाव पर्दे पर खड़ा कर लेते हैं और फिर उससे ही मोहित हो जाते आप कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही मोहित हुए तो आपको पता होगा कि क्या मैं कह रहा हूं यूनान में कथा है नार्सिसस की तो उसने झील में झांक कर देखा अपने को और मोहित हो गया और अपने ही प्रेम में पड़ गया फिर बड़ी मुश्किल में पड़ा क्योंकि खुद को खोजना बहुत मुश्किल है वो पाए कहा सारी जमीन खोज डाली होती लेकिन वो चेहरा फिर नहीं दिखाई पड़ता है जिसके प्रेम में पड़ गया है फ्राइड ने नार्सिसिस्ट उन लोगों को कहा है जो अपने ही मोह में पड़ जाते हैं और हम में से करीब करीब अधिक लोग नार्सिसिस्ट होते वो नार्सिसस जैसे ही होते हम सब अपने ही प्रेम में पड़े होते कहते भला न हो कहते भला न हो बायरन जैसा आदमी सैकड़ों स्त्रियों के प्रेम में पड़ता है कहता भला ना हो लेकिन मनस्विद कहते हैं कि वो सैकड़ों स्त्रियों के प्रेम में इसलिए पड़ता है कि हर बार हर स्त्री उसे कहे कि बहुत सुंदर हो बस इस आश्वासन के लिए ये तलाश अपनी ही शक्ल को प्रेम करने की तलाश है हजारों स्त्रियां कहें कि बड़े प्यारे हो प्यार वो अपने को ही करता है लेकिन हजार स्त्रियां कहें तो भरोसा गहरा हो जाए जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्यार करते हैं तो अपनी ही धारणाओं को अपने ही सौंदर्य की कल्पनाओं को अपनी ही भावनाओं को अपने ही आदर्शों को हम अपने से ही घिरे हैं सब सच लेकिन इस घिराव में इतनी वास्तविकता मालूम होती है कि लगता है ये सब है और अगर एक तरफ से जाला टूट जाए तो मकड़ी तत्काल दूसरी खूंटी खोज कर जाला बुनना शुरू कर देती है हम भी यही करते हैं अगर एक व्यक्ति से हमारा मोह भंग हो जाए तो हम दूसरे व्यक्ति पर खूंटी बनाकर अपना जाला बुनना शुरू कर देते हैं एक स्वप्न टूट जाए हम तत्काल दूसरा स्वप्न परिपूरक स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं लेकिन कभी इस होश से नहीं भर पाते कि जो हम कर रहे हैं उससे सत्य का कोई भी संबंध है निश्चित ही वो बिल्कुल असत भी नहीं है नहीं तो हम कर ही ना पाते बिल्कुल सत भी नहीं है अन्यथा हम दुख में ना पड़ते वो मध्य में है वो असत है और सत जैसा भासता है माया का ये अर्थ है जो अनादि तो है पर जिसका अंत हो जाता है जो कभी प्रारंभ नहीं हुई पर कभी समाप्त हो जाती है स्मरण नहीं आता कि माया कब प्रारंभ हुई स्मरण नहीं आता कि हम कब इस जाल में पड़े कोई उपाय नहीं खोजने का कि कब उतरे हम इस गहन अंधेरे में अनादि है लेकिन अंत हो सकता है बुद्ध से कोई पूछता है कि दुख का जन्म कैसे हुआ तो बुद्ध कहते हैं उसकी तुम फिक्र छोड़ो पूछो कि कैसे अंत हो सकता है बुद्ध कहते हैं ये बात ही छोड़ो कि प्रारंभ कैसे हुआ तुम यही पूछो कि अंत कैसे हो सकता मैं अंत जानता हूं बुद्ध कहते हैं एक आदमी गिर पड़ा है तीर की चोट खाकर तीर छिदा है उसकी छाती में मैं निकालने जाता हूँ वो आदमी कहता है पहले ये बताओ ये तीर किसने मारा क्यों मारा कब मारा कहाँ से मारा ये जहर बुझा है या नहीं किस कर्म फल का परिणाम है बुद्ध कहते हैं ये सब तू मत पूछ मैं तुझे तरकीब बता सकता हूँ कि तीर कैसे निकल सकता है इसका अंत कैसे हो सकता है माया है अनादि ये बहुत कीमत की बात है कि भारतीय मनीषा तथ्यों को स्वीकार करने में बहुत ही साहसी है बहुत कम चिंतन की धाराएं इस बात को स्वीकार करने को राजी हो पाती हैं कि कुछ अनादि है क्योंकि मन कहता है कहीं ना कहीं तो प्रारंभ हुआ ही होगा कहीं ना कहीं तो प्रारंभ हुआ ही होगा इसलिए ईसाई कहते रहे कि जगत का प्रारंभ हुआ है जीसस से चार हजार चार वर्ष पहले उन्होंने तारीख भी तय कर रखी थी फिर बहुत मुसीबत में पड़े क्योंकि विज्ञान ने खोजबीन की तो पता चला कि ये तो जमीन बहुत पुरानी कोई तीन अरब वर्ष पुरानी मगर आदमी कैसा कैसा अपने सपनों और तर्कों में जीता है ईसाई धर्मगुरु बड़ी कठिनाई में पड़ गया जब अस्थियां मिल गई पशुओं की जो लाखों वर्ष पुरानी है और जमीन से धातुएं मिल गई जो करोड़ों वर्ष पुरानी हैं और पत्थर की चट्टाने मिल गई जिनका इतिहास अरबों वर्ष पुराना है लेकिन ईसाई धर्मगुरु कह रहा था कि ईसा से चार हजार चार वर्ष पहले मतलब आज से कोई पांच छह हजार वर्ष पहले तो बड़ी कठिनाई हो गई सभ्यताएं मिल गई जो कि सात हजार वर्ष पहले अपने पूर्णता के शिखर पर थी उल्लेख मिल गए जो कि लाख लाख साल पुराने हैं ऋग्वेद में उल्लेख है जिन सितारों का जिन तारों नक्षत्रों का वो पंचानबे हजार वर्ष पुराना उल्लेख है अब क्या करें इसका तो आदमी कैसा अपने को भ्रांत तर्क दे सकता है ईसाई धर्मगुरुओं ने कहना शुरू किया कि परमात्मा ने पृथ्वी तो बनाई चार हजार चार वर्ष पहले ही लेकिन उसने उसमें इस तरह की चीजें रख दी जो कि धोखा देती हैं अरबों वर्ष का ताकि आदमी के आस्था का परीक्षा हो सके उसकी श्रद्धा की परीक्षा हो सके हड्डियां रख दी क्योंकि उसके लिए क्या असंभव है जो सारी पृथ्वी बना सकता है क्या वो एक ऐसी हड्डी नहीं बना सकता जो दस लाख साल पुरानी हो मालूम पड़े कि दस लाख साल पुरानी उसने ऐसी हड्डियां छिपा दी ताकि आदमी की श्रद्धा की परीक्षा हो सके कि तुम श्रद्धावान हो या नहीं और श्रद्धा की परीक्षा तो तभी है जब अश्रद्धा का सारा कारण उपस्थित हो जाए और आदमी श्रद्धा करता ही चला जाए वो कहे कि नहीं चार हजार चार वर्ष पुरानी ये रेशनलाइजेशन है ये अपनी भ्रांतियों को भी तर्क देने की हम चेष्टा करते रहते ये जो भारतीय मनीषा है ये एक अर्थ में हिम्मतवर है ये तथ्यों को स्वीकार करती है मनीषा कहती है कि इस जगत का कभी कोई आरंभ नहीं हुआ इसलिए मौलिक रूप से हम अकेली ही कौन है पृथ्वी पर जिसने बिगनिंग लेस अनादि तत्व को स्वीकार किया है अंत कोई स्वीकार नहीं कर पाया कहीं ना कहीं शुरू तो होना है भला हमें पता ना हो क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज शुरू ही ना हो और हो लेकिन तर्क का बहुत उथला रूप है सच तो यह है कि कोई भी चीज अगर शुरू हो तो उसके शुरू होने के लिए भी किसी चीज की पहले मौजूदगी जरूरी है अन्यथा शुरू भी कैसे होगी प्रारंभ के लिए भी तो कुछ मौजूद चाहिए जिसमें प्रारंभ हो तो भारतीय मनीषा कहती है कि प्रारंभ के लिए भी तो कुछ पहले मौजूद चाहिए इसलिए प्रारंभ की बात बकवास है हम कभी भी प्रारंभ को रखें कोई भी तारीख तय करें आगे पीछे अरबों खरबों वर्ष पहले लेकिन जब भी प्रारंभ होगा वो प्रारंभ नहीं है क्योंकि प्रारंभ के लिए भी कुछ मौजूद चाहिए और इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि ये अस्तित्व जो है अनादि है क्योंकि प्रारंभ का जो तर्क है वो इन्फिनिट रिग्रेस में गिरा देता है उसका कोई अर्थ ही नहीं है उसका कोई अर्थ ही नहीं है वो बच्चों का खेल हो जाता है कि हम कहते हैं आ बा से पैदा हुआ और बा सा से पैदा हुआ और सा डा से पैदा हुआ लेकिन अगर पैदा होने के लिए कोई जरूरी ही है पहले तो एक जगह जाके हमें स्वीकार कर लेना होगा कि ये पूरी श्रृंखला कभी पैदा नहीं हुई अन्यथा हम सिर्फ पीछे हटते जा सकते हैं नए शब्द खोजते जा सकते हैं और वे सभी शब्द प्रश्न को हल नहीं करेंगे उत्तर तो दे देंगे प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा तो तर्काभास है अगर कोई कहता है कि पृथ्वी कहाँ खड़ी है तो हम कहते हैं हाथी पर खड़ी है कि हाथी कछुआ पर खड़ा है लेकिन ये तर्काभास है क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जाके रुकना ही है तो पृथ्वी पर ही रुक जाने में क्या हर्ष है कि पृथ्वी किसी पर नहीं खड़ी और अगर कहीं ना कहीं जाके हमें कहना ही पड़ेगा कि ये अनादि है इसका कोई प्रारंभ नहीं हुआ तो इतने दूर जाने की इतनी यात्रा की ना समझी क्या करनी ऐसा ही सीधा सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि कुछ अनादि है जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ है लेकिन दूसरी और भी इससे भी खूबी की बात है कि जो अनादि है उसका अंत हो सकता है ये तर्क के लिए और भी कठिन हो जाता है क्योंकि जिसका प्रारंभ ना हुआ हो उसका अंत नहीं होना चाहिए ये तर्क की सीधी व्यवस्था है क्योंकि जिस डंडे का एक छोर नहीं है उसका दूसरा छोर कैसे होगा या तो दोनों छोर होंगे या दोनों छोर नहीं होंगे सीधा तर्क है और साफ है गणित कहेगा कि गलत बातें कर रहे हैं या तो कहो कि प्रारंभ हुआ है तो अंत ये दो छोर है लेकिन तुम ये कह रहे हो कि एक ही छोर है अंत और प्रारंभ का छोर है ही नहीं ये नहीं हो सकता हमको भी लगेगा हमको भी लगेगा एक उदाहरण से कहूं तो शायद ख्याल में आ जाए पिछले सौ वर्षों में जिसको हम सीधा अरस्तु का तर्क कहें सीधा स्टेट लॉजिक वो टूट गया है पिछले सौ साल में दो हजार साल की अरस्तु की लंबी तर्क की परंपरा बुरी तरह खंडित हुई है और खंडित हुई है विज्ञान के द्वारा और बड़े से बड़ी चोट पहुंची है अणु में प्रवेश क्योंकि जैसे ही भौतिक शास्त्र ने अणु में प्रवेश किया वैसे ही एक अनूठी घटना हाथ आई जिसको तर्क समझाने में कठिनाई में पड़ गया वो घटना ये थी कि जैसे ही अणु विस्फोट होता है तो उसके जो मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन से वो कण भी हैं और तरंग भी एक ही साथ ये नहीं हो सकता स्टेट लॉजिक के हिसाब से सीधे तर्क के हिसाब से ये नहीं हो सकता अरस्तु कहेगा ये बकवास या तो कोई चीज कण होगी और या कोई चीज तरंग होगी तरंग और कण एक ही साथ कोई चीज कैसे हो सकती है क्योंकि तरंग का मतलब ही होता है कण नहीं है जो लहर और कण का अर्थ होता है जो ठहरा है रुका है लहर नहीं लहर में कई कण हो सकते हैं लेकिन कण में लहर नहीं हो सकती सीधी बात है लेकिन बड़ी मुश्किल खड़ी हुई फिजिसिस्ट भी दिक्कत में पड़े क्योंकि पश्चिम का सारा विचार अरस्तु को आधार मानकर चलता रहा है और 2000 साल में उसने कभी तकलीफ नहीं हुई थी सदा ठीक बैठा था अरस्तु इसलिए वो पिता है तर्क का लेकिन इस घटना ने इन इलेक्ट्रॉन्स ने अरस्तु को बड़ी मुश्किल में डाल दिया अब दो ही उपाय थे या तो अरस्तु को मानो और कहो कि ये नहीं हो सकता लेकिन ये हो रहा था कण एक ही साथ तरंग भी था या तो कह दो कि ये हो ही नहीं सकता आंख बंद कर लो लेकिन वैज्ञानिक आंख भी कैसे बंद कर सकता है ये हो रहा था तो उपाय यही था कि अरस्तु को कहो कि अब तुम चुप हो जाओ हम तुम्हारी मानकर इतने दिन तक चले वो ठीक था क्योंकि कोई तथ्य हमारी पकड़ में नहीं आया जो तुम्हें खंडित करता आज एक तथ्य सामने आ गया है जो इनकार करता है तर्क को अब हम तर्क को माने या तथ्य को अगर तर्क को माने तो सारा विज्ञान आगे विकास के लिए कुंठित हो जाता है तो वैज्ञानिक ने हिम्मत की और उसने कहा कि अब हम अपना तर्क ही सुधार लें क्योंकि सत्य को तो सुधारने का कोई उपाय नहीं है अब हम क्या करें ये तर, तरंग और कण एक ही साथ है तो तंग करंग क्वांटा नया शब्द गढ़ना पड़ा जो मनुष्य की भाषा में कभी भी नहीं था अभी हिंदी में अभी भी नहीं है इसलिए हमको कण तरंग कहना पड़ रहा है अंग्रेजी को एक नया शब्द मिल गया क्वांटा उसका मतलब है दोनों एक साथ एक ही चीज दोनों अरस्तु का तर्क बड़ी मुश्किल में हो गया भारतीय भी आत्मिक खोज में ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां तथ्य तर्क के आगे पड़ गया ये एक तथ्य वैसा तथ्य है जहां भारतीयों ने कहा कि माना तर्क ठीक कहता है जिसका प्रारंभ नहीं उसका अंत नहीं हो सकता लेकिन हमने अंत करके देखा है हम मुश्किल में हैं हमने भीतर अनुभव किया कि माया का अंत हो जाता है और आरंभ नहीं अब हम क्या करें हमारी भी कठिनाई ठीक आंतरिक अनुभव में वैसी ही थी जैसे पश्चिम में पिछले पचास साल में क्वांटा के संबंध में हुई हमको भी समझ में आता था और तर्क हमने भी अरस्तु से बहुत पहले विकसित कर लिया था अरस्तु के तर्क को विकसित हुए केवल ढाई हजार साल हुए और पूर्वी न्याय कम से कम सात हजार साल से अस्तित्व में है हमें भी ये पता था कि ये तर्क का नियम भली भांति पता था लेकिन क्या क्या किया जा सकता है अगर तथ्य हमारे तर्क को न माने तो हम क्या करें हमें अतर्क तथ्य को ही मानना पड़ेगा ये तर्क अथत्य है माया का कोई प्रारंभ नहीं खोजते खोजते खोजते कितना ही हम खोजे पता चलता है कि किसी भी प्रारंभ को हम माने वो प्रारंभ नहीं है उसके होने के लिए भी किसी की मौजूदगी जरूरी है तब फिर प्रारंभ की खोज शुरू हो जाती लेकिन हम अपने भीतर जब उतरते हैं तो एक घड़ी आती है जहां हमारे प्रक्षेपण का पूरा जाल टूट जाता है और हम माया के बाहर हो जाते हैं रोग का प्रारंभ नहीं है लेकिन अंत है ये हमने तथ्य से जाना है ये हमने अनुभव से जाना है इसलिए उपनिषद हमारी तार्किक घोषणाएं नहीं है हमारी अंतर निरीक्षण के निष्कर्ष है जब भी तथ्य महत्वपूर्ण होता है तो तर्क को छोड़ देना पड़ता है कोई कोई उपाय नहीं पश्चिम का मनोविज्ञान अभी एक और ऐसे तथ्य के करीब आया जहाँ स्टेट लॉजिक को टूट जाना पड़ता है मैंने अभी भौतिक शास्त्र की बात की पश्चिम का मनोविज्ञान भी जुंग के साथ एक नई घटना पर उतर गया सदा से हम मानते थे कि पुरुष पुरुष है स्त्री स्त्री लेकिन जुंग ने पाया कि हर पुरुष के भीतर भी स्त्री है और हर स्त्री के भीतर भी पुरुष है उसमें का मात्रा का ही फर्क है जिसको हम पुरुष कहते हैं वो 60 परसेंट पुरुष है और 40 परसेंट स्त्री ऐसा समझे जिसको हम स्त्री कहते हैं वो साठ परसेंट स्त्री है चालीस परसेंट पुरुष है ऐसा समझे ये अंतर मात्रा का है ये अंतर सीधा नहीं तो प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री है और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष है तो जुंग ने कहा कि हमें कहना चाहिए कि पुरानी सारी धारणा गलत हो गई कि पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है और किसी स्त्री को कहना कि क्या मर्दानी या किसी पुरुष को कहना कि क्या स्त्री ना समझिया आदमी बायसेक्सुअल है तो पुराने यौन का जो विभाजन था वो टूट गया और जो उन्हें और मुश्किल में डाल दिया उसने कहा कि जैसे जैसे मैं इसके गहरे अनुभव में उतरा तो मैंने पाया कि ये अनुपात भी कोई निश्चित नहीं है दिन में तो दस दफे बदल जाता है हो सकता है सुबह आप ज्यादा स्त्री हो पुरुष होते हुए भी और सांझ आप ज्यादा पुरुष हो जाए और ये भी हो सकता है कि आज आप पुरुष हैं और कल आप स्त्री जैसा व्यवहार करें कभी आपने ख्याल किया है मैं एक आदमी को जानता हूँ बड़ा हिम्मतवर आदमी उसके मकान में आग लग गई तो वो छाती पीट के और बाल खींच के ऐसा रोने लगा जैसा कि कोई स्त्री भी ना रो सके जब मैंने उसे रोते देखा तो ये मानना मुश्किल हो गया कि ये वही आदमी है बिल्कुल स्त्री जैसा व्यवहार करने लगा अगर हम पुराने सीधे तर्क को माने तो हम कहेंगे कि कमजोरी का क्षण है होश में नहीं है लेकिन नया मनस्विद कहेगा कि नहीं कमजोरी का क्षण नहीं है अनुपात बदल गया स्त्री प्रमुख हो गई कभी हमने स्त्री को भी पुरुष की भांति लड़ते और संघर्ष में देखा है कभी कोई झांसी की रानी ठीक पुरुष जैसी हम उसे मर्दानी कहते हैं लेकिन हम मानते हैं कि ये ये कोई विशेष स्त्री है ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी स्त्री में ये प्रकट हो सकता है अनुपात के परिवर्तन की बात है और कई बार ऐसा होता है कि जब स्त्री मर्दानी होती है तो पुरुष से ज्यादा मर्दानी हो जाती है उसका कारण है क्योंकि उसकी मर्दानगी बड़ी फ्रेश और ताजी होती सदा की छिपी रहती उसका उसने उपयोग ही नहीं किया होता जैसे कि कोई जमीन बोई ही ना गई हो सैकड़ों वर्षों तक तो बड़ी उर्वरा हो जाती है उसमें बीज डालें तो पहली तो फसल भारी होगी सारे आसपास के खेत जो हजारों साल से अनाज देते रहे फीके पड़ जाएंगे तो स्त्री अगर कभी मर्दानी होती तो उसका जो मर्द है उसके भीतर का जो पुरुष है वो बहुत ताजा और प्रगाढ़ होता है क्योंकि अप्रगट रहा है और विस्फोट होता है और कभी जब कोई पुरुष स्त्रीण हो जाता है तो उसकी कोमलता स्त्री भी नहीं छुपाती तो वो स्त्री से भी ज्यादा स्तृण हो जाता है सीधा तर्क टूट गया मनुष्यविद के पास भी उसने कहा कि तर्क तो ठीक कहता है कि स्त्री स्त्री है पुरुष पुरुष है पुरुष स्त्री नहीं स्त्री पुरुष नहीं लेकिन तथ्य ये कहता है कि दोनों दोनों हैं और हम पुरानी धारणा छोड़ें और जुंग कहता है कि हमारा आकर्षण ही इसलिए है नहीं तो आकर्षण भी ना हो इसलिए बहुत अनूठी बात खोज में आई और वो ये कि आप एक पुरुष होकर जो स्त्री की खोज में रहते हैं कि कोई स्त्री जिसे हम प्रेम कर सकें वो स्त्री आपके भीतर की स्त्री से जब मेल खाती है तभी प्रेम घटित होता है नहीं तो प्रेम घटित नहीं होता और इसलिए आप हो सकता है एक स्त्री को प्रेम करें और कल पाए कि नहीं घटित नहीं हो रहा प्रेम एक पुरुष को प्रेम करें और कल पाए कि तालमेल नहीं बैठता तब हम नाराज होते हैं कि शायद ये पुरुष ठीक नहीं है शायद ये स्त्री ठीक नहीं है कुल कारण इतना है कि हमारी भीतर की स्त्री से तालमेल नहीं बैठ पा रहा या भीतर के पुरुष से तालमेल नहीं बैठ पा रहा हम सबके भीतर एक प्रतिमा है पुरुष की या स्त्री की उसी की हम तलाश करते हैं और जब उस प्रतिमा में कोई ठीक ठीक बैठ जाता है तब हम कहते हैं कि हम प्रेम में पड़ गए प्रेम में पड़ना और कुछ भी नहीं है उस भीतर की प्रतिमा का किसी के साथ ठीक मेल पड़ जाना कि हम प्रेम में पड़ गए लेकिन प्रत्येक बदल रहा है इसलिए आज मेल पड़ सकता है और कल शायद मेल ना पड़े इसलिए सुबह मेल पड़ता है सांझ मेल ना पड़े भारतीय मनीषा इस अनुभव पर एक दिन पहुंची कि जो प्रारंभ नहीं होता वो भी अंत हो सकता है और जो अंत नहीं होता वो भी प्रारंभ हो सकता है दूसरा हिस्सा भी आपको कह दू माया प्रारंभ नहीं होती अंत होती है मोक्ष प्रारंभ होता है अंत नहीं होता मोक्ष का अर्थ है माया से उठ जाना उसका प्रारंभ तो होता है क्योंकि एक दिन आप माया से उठते हैं लेकिन फिर उसका अंत कभी नहीं होता महावीर मुक्त हो गए अब इस मोक्ष का कोई अंत नहीं होता है तो भारतीय मन समझा है इस बात को कि माया ऐसा तथ्य है जो प्रारंभ नहीं होता अंत होता है मोक्ष दूसरा तथ्य है जो प्रारंभ होता है और अंत नहीं होता और अगर हम इन दोनों को पूरा मिला लें तो वर्तुल बन जाता है माया में जो अनादि है वही मोक्ष में अनंत है मोक्ष में जो आरंभ में है माया में वही अंत है माया का अंत मोक्ष का प्रारंभ है वर्तुल निर्मित हो जाता है ये वर्तुल आध्यात्मिक अनुभव है ये तर्क नहीं है और तर्क से जो इसकी तरफ जाएगा वो अपने हाथ पैर बांध के और चलने की कोशिश कर रहा है तो न चल पाए तो इसमें जुम्मा इसका नहीं है कि चलने की घटना नहीं घटती वो हाथ पैर बांधे हुए बैठा है अपने ही तर्क से अपने हाथ पैर को बांधे हुए बैठा है जो ना सत्य ना असत्य न जिसे हम कह सकते सत असत न हम कह सकते दोनों न हम कह सकते दोनों नहीं ऐसी सबसे अधिक विकार रहित दिखाई पड़ने वाली शक्ति को माया कहते हैं और विकार रहित दिखाई पड़ती है बिल्कुल क्योंकि जब दिखाई पड़ती है तो विकार रहित ही दिखाई पड़ती है स्वप्न जैसी शुद्ध सत्य मालूम पड़ती है वास्तविक मालूम पड़ती है जब खो जाती है तो ऐसा नहीं कि विकार सहित दिखाई पड़ती दिखाई ही नहीं पड़ती जब तक दिखाई पड़ती है शुद्ध सत्य मालूम पड़ती है जब नहीं दिखाई पड़ती शुद्ध असत्य हो जाती ये जो दोनों के बीच का अस्तित्व है माया का इसे ही हम संसार कहते रहे उसका वर्णन इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता इससे ज्यादा उसके बाबत कुछ भी नहीं कहा जा सकता इससे ज्यादा जानना हो तो जानना पड़ता है इतना काफी है कहने के लिए इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं इससे ज्यादा संभव भी नहीं सूत्र पूरा हो गया अब अगर ज्यादा जानना हो तो जाना जा सकता है यह माया अज्ञान रूप तुच्छ और मिथ्या है ये माया अज्ञान रूप है तुच्छ है मिथ्या है पर मूढ़ मनुष्यों को तीनों काल में वास्तविक जान पड़ती है और इसलिए ऐसा ही है ऐसा कहकर उसका कोई रूप समझाया नहीं जा सकता है इसमें तीन बातें हैं अज्ञान रूप हम नहीं जानते इसलिए माया दिखाई पड़ती है हमारा न जानना ही उसका आधार है सांप दिखाई पड़ा है रस्सी में उसका आधार क्या है कि हम रस्सी को ठीक से नहीं जान पाए ठीक सम्यक ज्ञान रस्सी का नहीं हुआ इसलिए सांप दिखाई पड़ा है अगर पास गए होते प्रकाश जलाया होता देखा होता तो सांप खो जाता सांप का अस्तित्व हमारे न जानने में है रस्सी में नहीं इसे ठीक से समझ लें सांप का अस्तित्व हमारे न जानने में है रस्सी में नहीं क्योंकि रस्सी तो हम जान लेंगे तब भी रस्सी ही होगी नहीं जानते थे तब भी रस्सी ही थी लेकिन बीच में एक क्षण आया अंधेरा आया भ्रांति थी हम दूर से ही देखकर भाग खड़े अंधेरा था धुंधल का था साफ दिखाई नहीं पड़ता था तब हमने जो सांप देखा वो सांप कहाँ से आया वो हमारे न जानने से और हमारी स्मृति से आया हमने पहले सांप देखा है रस्सी में कुछ मेल पड़ गया उस सांप का रस्सी वैसी दिखाई पड़ी जैसे सांप हो और अंधेरा था और रोशनी न थी और हम भाग खड़े हुए भय ने काम किया स्मृति ने काम किया ज्ञान की कमी ने काम किया और हम भाग गए तो जो नहीं था वो वास्तविक हो गया भय ने काम किया स्मृति ने काम किया पुरानी स्मृति सांप की पर्दा पर फैल गई और अंधेरे ने काम किया पास नहीं गए अज्ञान ने काम किया और सांप रस्सी हो गई रस्सी सांप हो गया कभी उल्टा भी हो जाता है कभी सांप भी रस्सी हो जाता है तुलसीदास को हो गया था गए हैं पत्नी को मिलने चोरी से सामने के द्वार से नहीं पहुंच सकते क्योंकि अभी दिन ही तो नहीं हुआ पत्नी को गए हुए अपने माँ के घर तो सामने किस मुंह से जाएं तो मकान के पीछे से चढ़ गए वर्षा की रात है सांप लटका है रस्सी समझ के चढ़ गए तो ये भी हो जाता है क्योंकि अगर रस्सी सांप बन सकती है तो सांप क्यों रस्सी नहीं बन सकता मगर ये भी कारण वही है स्मृति की रस्सी है और इतनी जल्दबाजी चढ़ने की कि फुर्सत नहीं जानने की कि क्या है भय कि कोई देख ना ले कोई पकड़ ना ले सुविधा नहीं है बहुत जांच पड़ताल की नहीं तो सामने के दरवाजे से ही चले गए होते रोशनी लेके भी जाने का उपाय नहीं है क्योंकि चोर रोशनी लेकर नहीं जाते और भारी मोह भारी माया पत्नी के मिलने की तो सांप रस्सी हो जाता बाकी सांप तो तब भी सांप ही है तो अज्ञान आधार है तुच्छ और मिथ्या है क्योंकि जो है वहां वस्तुता वो एकदम तुच्छ है ना कुछ हम उसे बहुत कुछ बना लेते वो हमारे ही सपने को हम देख के बहुत कुछ बना लेते इसलिए जब स्वप्न टूटता है तो व्यक्ति जिस पर हमने स्वप्न को फैलाया था एकदम फीका हो जाता है बेरस हो जाता है व्यक्ति वही है सिर्फ हमने अपना स्वप्न वापस ले लिया तुच्छ है जो चारों तरफ हमारे फैला हुआ है जिस पर हम अपनी माया को खड़ा करते हैं बिल्कुल तुच्छ है ना कुछ है वो ठीक वैसे ही फिल्म के पर्दे जैसा उसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ सफेद कोरा पर्दा है लेकिन फिर बहुत रस चित्रों को फैलाकर हम देख लेते दीवाने हो जाते हैं लोग पागल हो जाते तस्वीरों से और तस्वीरें भी केवल धूप और छाया का खेल केवल प्रकाश के वर्तुल और कुछ भी नहीं उनसे भी दीवाने हो जाते और अब तो थ्री डायमेंशनल फिल्म होती तीन आयाम वाली होती तो जब पहली दफा थ्री डायमेंशनल फिल्म पैदा हुई तो बिल्कुल वास्तविक हो गया मामला पहले दिन जब लंदन में थ्री डायमेंशनल फिल्म दिखाई गई तो उसमें एक घुड़सवार घोड़े पर दौड़ता हुआ आता और एक भाला फेंकता है पूरा हाल अपना सिर झुका लेता है भाले से बचने के लिए क्योंकि वो थ्री डायमेंशन में बिल्कुल दिखाई पड़ता है उसमें लंबाई चौड़ाई गहराई सब है भाले और जब भाला फेंका जाता है तो बिल्कुल सर्राता हुआ गुजरता हुआ मालूम पड़ता है कि अब गया पर करीब ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम फिल्म में बैठे हैं सिर झुक जाते हैं वास्तविक भाले में और उस भाले में कोई फर्क नहीं रह जाता लेकिन क्या गुजरा था वहां कुछ भी तो नहीं था कुछ धूप और छाया का खेल था लेकिन भ्रांति पैदा हो सकती और मिथ्या मिथ्या का अर्थ जो नहीं है बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल हुई मालूम पड़ती है मिथ्या माया का पर्यायवाची है माया शक्ति का नाम है मिथ्या तथ्य का माया से हम मिथ्या तथ्यों को पैदा करते हैं सूडो फैक्ट मिथ्या का मतलब होता है माया शक्ति है झूठे तथ्यों को पैदा करने की तो मिथ्या का निर्माण होता है माया से पर मूढ़ मनुष्य को मूढ़ का मतलब मूर्ख नहीं हम्म, ध्यान रहे मूढ़ का मतलब मूर्ख नहीं है बुद्धिमान भी मूढ़ हो सकते महापंडित भी मूढ़ हो सकते मूल का मतलब मूर्ख नहीं है मूल का मतलब है माया में डूबा मूल हुआ खोया सम्मोहित तो महापंडित भी मूल हो सकता तुलसीदास महापंडित थे उनके पंडित होने में कोई कमी ना थी लेकिन मूल हो गए पश्चिम में वे कहते हैं कहावत है कि माँ को जिस बेटे को बुद्धिमान बनाने में 25 साल लगते एक जवान औरत उसे दो सेकंड में मूड बना देती पच्चीस साल खराब करती है माँ बुद्धिमान बनाने में पढ़ाओ लिखाओ समझाओ और उसे पता नहीं कि साधन से औरत आएगी और मुंह बना देगी दो मिनट सब बुद्धिमानी रखी रह जाएगी मूल का अर्थ मूर्खता नहीं है मूल का अर्थ विमोहित होने की दशा कोई भी विमोहित हो सकता है और जब कोई विमोहित होता है तब सब बुद्धिमानी रखी रह जाती क्षण भर पहले बड़े बुद्धिमान थे क्षण भर में बुद्धिमानी खो जाती जैसे एकदम से नशा छा जाए जैसे एक आदमी हो उसमें रास्ते पर चल रहा था और फिर कोई अचानक उसको एक टिकिया दे दे और वो बेहोश हो जाए और पैर लड़खड़ाने लगे ठीक ऐसा हमारे भीतर क्षमता है माया की शक्ति की जैसे ही हम उसको मौका देते हैं फैलने का वो फैल के अपना वितान फैला लेते हम उसके भीतर हो जाते माया के भीतर हो जाने का नाम मूलता है तो तीन शब्द हुए हमारे पास माया माया का अर्थ शक्ति मिथ्या मिथ्या का अर्थ इस माया से पैदा हुए तथ्य और मूलता इस माया से ढक गई चेतना तो जब हम किसी को मूल कहते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ख है उसका केवल इतना अर्थ है कि वो अपने ही हाथों मूर्ख बन गया है तो बुद्धिमान भी बन सकता है और इसलिए जरूरी नहीं है मूर्ता से मुक्त होने के लिए दूसरा हिस्सा समझ लें ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी बहुत बुद्धिमान हो मूर्ख भी मूर्ता छोड़ सकते हैं क्योंकि बुद्धिमान भी मूर्ख हो सकते हैं इसलिए कभी ऐसा भी होता है कि गांव का बिल्कुल गंवार और परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उसका मतलब है वो मूर्ता के बाहर हो जाता है बस कबीर या नानक या तारण या दादू या फरीद ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं खुद मोहम्मद जीसस इन्हें किसी भी अर्थों में जानकार नहीं कहा जा सकता है इनके पास कोई सुसंस्कृत शिक्षित चित्त नहीं बिल्कुल साधारण जन लेकिन अचानक मूर्ता के बाहर छलांग लगा जाते और परम ज्ञानी हो जाते परम ज्ञानी हो जाते ये जो परम ज्ञान है ये मूर्ता के मिटने से होता है और जो पांडित है वो मूर्खता के मिटने से होता है तो मूर्खता मिटानी आसान है जानकारी इकट्ठी कर ली तो मूर्खता मिट जाती है नहीं जानने का नाम बहुत सी जानकारियों को हम मूर्ख कहते हैं जान लेता आदमी कहते हैं पंडित है लेकिन पंडित और मूर्ख सजाती है उनमें मात्रा का फर्क है मूर्ख कम जानता है पंडित ज्यादा जानता है जानकारी की मात्रा उसकी ज्यादा है जो अंतर है वो परिमाण का है मात्रा का है वो गुण का नहीं है क्योंकि दोनों ही मूड हो सकते कभी भी कभी भी दोनों ही मूड हो सकते मूर्ता के विपरीत जो है उसका नाम ज्ञान है और मूर्खता के विपरीत जो है उसका नाम पांडित्य है मूर्ता के विपरीत जो है उसका नाम प्रज्ञा है उसका नाम विजडम है इसलिए पांडित्य सीखा जा सकता है ज्ञान सीखा नहीं जा सकता पांडित्य उधार मिल जाता ज्ञान के उधार पाने का कोई उपाय नहीं है पांडित्य केवल संग्रह है ज्ञान आत्म क्रांति है मूलता टूटे मूलता का क्या मतलब है मूलता का मतलब है माया के वसीभूत होने की वृत्ति माया के प्रभाव में जाने की वृत्ति मूलता है माया के प्रभाव से मुक्त होने की क्षमता ज्ञान है मूढ़ मनुष्यों को तीनों काल में माया सत्य मालूम पड़ती ये कौन से तीन काल जिनमें मूढ़ मनुष्य को माया सत्य मालूम पड़ती प्रत्येक वस्तु के होने के तीन क्षण होते न होने का क्षण होने का क्षण और फिर न हो जाने का क्षण प्रत्येक वस्तु काल के तीन स्थितियों में से गुजरती है अभी मैंने आपको देखा अभी मेरा आपसे कोई प्रेम नहीं है ये एक स्थिति देखा प्रेम हुआ ये दूसरी स्थिति कल प्रेम खो गया ये तीसरी स्थिति ये तीन काल हुए प्रेम के नहीं था हुआ अब नहीं ऋषि कहता है कि मूढ़ जन तीनों स्थितियों में माया को वास्तविक समझते हैं जब नहीं था तब वो समझते थे प्रेम नहीं है ये वास्तविकता थी जब हुआ तो वो समझते हैं कि प्रेम है ये वास्तविकता है जब नहीं हो जाता तब वो फिर समझते हैं कि नहीं है ये वास्तविकता और ये तीनों वास्तविकताएं नहीं ये तीन काल है प्रत्येक मायक अनुभव के प्रत्येक मूर्ता के तीन क्षण है होने का होने के पहले का होने के बाद का और तीनों स्थितियों में जो भी सामने होता है आदमी मानता यही ठीक है इसका क्या अर्थ हुआ इसका ये अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति जब प्रेम है अगर मानता है कि अभी प्रेम है और वास्तविक है तो जब प्रेम खो जाएगा तब मानेगा कि अब प्रेम नहीं है इतनी ही गहराई से मानेगा जितनी गहराई से उसने माना था प्रेम को लेकिन ये ना देख पाएगा कि जो नहीं हो गया वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं ही था और जो अभी हो गया और क्षण भर पहले नहीं था कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले भी नहीं था और अभी सिर्फ भ्रांति हो रही है इन दो क्षणों के बीच में होने की भ्रांति हो रही है क्योंकि जो है वो सदा है और जो है वो सदा रहेगा जो आता है और जाता है वो भ्रांत है वो मायक है वो सिर्फ जादू है वो केवल सम्मोहन है मूल व्यक्ति तीनों काल में मानता है कि वास्तविक है और इसलिए मूल व्यक्ति को समझाना अति कठिन है कि माया क्या है ऋषि कहता है ऐसी ही है ऐसा कह के उसे समझाया नहीं जा सकता क्यों नहीं समझाया जा सकता क्योंकि जब उसका प्रेम भंग हो जाता है तब हम उससे कहें कि ये प्रेम नहीं था तो वो मान लेता है कि नहीं था लेकिन कल उसका प्रेम फिर जन्मता है तब उसको आप मनाए वो कहेगा नहीं ये है वो न रहा होगा लेकिन ये है और आदमी की वर्तुलाकार क्षमता है मूल होने की मैं एक आदमी के संबंध में सुना हूं कि उसने जीवन में आठ बार विवाह किया एक लिहाज से अच्छा है कितना विवाह का मौका हो तो इतनी बार मूलता दोहराने से शायद ख्याल आ जाए लेकिन क्षमता आनंद है आदमी की बड़ी हैरानी हुई उसे कि जब उसने पहली दफे विवाह किया और छह महीने बाद विभ्रम हो गया सब टूट गया स्वप्न खंड हुआ तो उसने सोचा कि मैंने गलत स्त्री चुन ली दूसरा विवाह किया छह महीने बाद पता चला कि उसने फिर वैसी ही स्त्री चुन ली ये दूसरी स्त्री थी लेकिन फिर वैसी ही उसने आठ बार जिंदगी में चुनाव किया और हर बार वैसी स्त्री सिद्ध हुई लेकिन फिर भी उसे ये ख्याल ना आया कि चुनने वाला वही है तो चुनाव अलग अलग कैसे हो सकता है ये हो कैसे सकता है पहली स्त्री को चुनते वक्त भी मैं ही चुनने वाला था मेरे चुनने का ढंग मेरे देखने का ढंग मेरे माया का फैलाव मेरे सौंदर्य की धारणा मेरे प्रेम की कल्पना दूसरी बार भी वही है तीसरी बार भी वही है लेकिन हर बार वो ये सोच रहा है कि गलत स्त्री मिल गई कभी ये नहीं सोच रहा है कि जो आदमी चुन रहा है वो वो गलत के अतिरिक्त किसी को चुन ही नहीं सकता है वो गलत ही उसमें फिट होती तालमेल खाती तो मूलता की कठिनाई ये है कि वो तीनों काल में है कभी ये नहीं देख पाती कि ये मूर्ता जो है ये मेरे ही भीतर का जाल है जो मैं बाहर फैलाता हूं दो सदा दूसरे पर होता है अगर मैं आपके प्रेम में गिर गया तो मैं ये नहीं देखता कि मैं गिर गया मैं देखता हूं कि आप बड़े प्रेम के योग बड़े प्रेम बात फिर कल यहीं से झंझट शुरू हो गई क्योंकि मैंने आपको प्रेम पात्र बना दिया कहना मुझे इतना ही चाहिए था कि मैं जिस ढंग का आदमी हूँ तुम्हारे प्रेम में गिरता तुमसे कुछ लेना देना नहीं तुम खूटी हो मैं कोट मैं तुम पर टंगता तुमसे कोई लेना देना नहीं तुम संदर्भ के बाहर हो तुम ना मिलते मैं कोई दूसरी खूंटी खोजता और मेरा कोट जैसी खूंटी पर टंग सकता मैं खोजता तुम मिल गए संयोग की बात तुम पे कोट मैंने टांग दिया लेकिन अभी जिसको मैं कह रहा हूं कि तुम बड़े योग बड़े क्षमतावान इसलिए मैं प्रेम कर रहा हूं वो भी नहीं समझ रहा कि कल दिक्कत में पड़ेगा अभी उसको कह देना चाहिए कि कृपा करो मैं नहीं हूं योग तुमको योग दिखाई पड़ता हूं क्योंकि बहुत शीघ्र कल वो क्षण आएगा जब प्रेम उखड़ जाएगा और तुम कोट को उतारने लगो खूटी से तब भी तुम कहोगे कि तुम योग सिद्ध नहीं हुए इसलिए कोट को उतार हूं लेकिन हमारा भी मन जब हमसे कोई कहता है कि आप बड़े प्रेम के सागर हैं इसलिए हम आपको प्रेम कर रहे हैं तब हमारा मन भी इंकार करने को नहीं होता है क्योंकि हम भी अपनी मूर्ता में प्रसन्न होते हैं कि बहुत ठीक क्योंकि खूंटी कोई नहीं बनना चाहता को लगता हम प्रेम के सागर हैं इसलिए प्रेम कर रहा है लेकिन हमको पता नहीं कि हम झंझट मोल ले रहे हैं कल ये आदमी जब उखड़ जाएगा इसका दिल इस खूंटी से और कोट उतारने लगेगा तब ये कहेगा सड़ी खूंटी है ये इससे हम कोट नहीं टांग सकते सब हमें पीड़ा होगी लेकिन दोनों हालतों में बात वही कह रहा है वो हमको जिम्मेवार ठहरा रहा है वो खुद जिम्मेवार नहीं है मूढ़ता सदा दूसरे को जिम्मेवार ठहराती है ज्ञान सदा अपने को जिम्मेवार मानता है इसलिए अगर आप बुद्ध जैसे आदमी को जाके गाली दें तो भी बुद्ध जानते हैं कि इस आदमी को खूंटी की तलाश है आप उनके चरण छुए तो भी जानते हैं कि इस आदमी को खूंटी की तलाश है लेकिन अपने को वो महत्वपूर्ण नहीं बनाते दोनों में कभी भी इसलिए जब आप पैर छूते हैं तब भी वो पत्थर है और जब आप गाली दे आते हैं तब भी वो पत्थर है क्योंकि वो मानते ये तुम्हारी जरूरत है इसका उनका कोई लेना देना नहीं ये सिर्फ संयोग है कि वो किनारे पड़ गए और आप मिल गए ये बिल्कुल संयोग है इसलिए जब आप कहते हैं कि आप बहुत बुरे आदमी हो तब भी वो सुन लेते हैं कि ठीक है तुम जैसे आदमी हो उसको मैं बुरा दिखाई पड़ता हूँ बात खत्म हो गई इससे ज्यादा कुछ इसमें प्रयोजन नहीं जब आप कहते हैं कि आप परम ज्ञानी तो वो समझते हैं वो कहते ठीक है तुम जैसे आदमी हो उसको मैं परम ज्ञानी दिखाई पड़ता हूँ ये तुम्हारी आंख है न मैं इसमें गौरव लेता और न निंदा लेता हूँ लेकिन हमें बड़ी कठिनाई होती है ऐसे आदमी के साथ हमें बड़ी बेचैनी होती क्योंकि ऐसा आदमी बार बार हमको अपने पर ही फेंक देता है और हमारा मन होता है किसी पे लद जाए किसी पे सवार हो जाए किसी के कंधे पे बैठ जाए वो हमको बार बार वापस भेज देता है इसलिए इस तरह का आदमी जब तक हमारी मूर्ता है हमारे लिए दुख का ही कारण होता है ऐसा आदमी भी बुद्ध जैसा आदमी भी हमारे दुख का ही कारण है जब तक हमारी मूर्ता है वो कुछ भी कहे वो कुछ भी करे हम अपनी मूर्ता से जो निकालेंगे वो दुख होने वाला है जब तक हम मूर्ता तोड़ने को तैयार ना हो तब तक हमें बुद्ध का वो रूप ही नहीं दिखाई पड़ सकता क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमारा फैलाव है इसलिए इससे ज्यादा मूढ़ आदमी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसी स्थिति है इससे जागो इसे पहचानो इसे खोजो इसके प्रति होश से भर जाओ now the inquiry goes into Maya. After Brahma, it must be discussed. By Maya, it means something which is and yet is not, which appears to be, the appearance things as they appear to us are not as they are. Immanuel Kant says somewhere that we cannot know the thing in itself. The thing cannot be known in itself. Whatsoever we know about the thing is a projection. It is a contribution. We have contributed something to it. When you fall in love with someone, it is your production. You contribute to your beloved, to your lover, something, something you give, and then you are impressed by your own contribution. This is Maya. We go on creating illusions around us. We go on creating dreams around us. The real, that which is, is engulfed with our dreams, projections. This force to create illusions around oneself is Maya this magic, this power of the mind to create things which are not, or to give things qualities which are not. And we live in this world, this created one. Of course, obviously disillusionment is bound to come it may take time but it comes any moment the reality assaults the dream is scattered and we help also each other to create dreams someone falls in love, then they both help each other to create the dream. They both bring qualities, show appearances which are not real, masks, faces. They help each other deceive oneself. All that is beautiful comes up and all that is ugly goes down. All that is lovable is brought out and all that is not lovable is just forgotten. It goes into the unconscious and we create a false faith. Because really no one can love unless he can hate. So whenever someone loves, it means that there is every possibility of as intense hatred as of love. The both edges simultaneously. They are part of one phenomena. You cannot love if you cannot hate. Both are one energy. But the hatred part is suppressed into the unconscious and the loving part is brought out. Both are blending the loving part above and suppressing the other inevitable part which cannot be denied. They create dreams around themselves and because of these dreams which they have created they fall in love. But how long you can continue? The denied part will assert it will have its revenge. It will explode. The more suppressed, the more dangerous is going to be the explosion. You can go on having faces when you are not so near and intimate. The moment you are near and intimate, and the love demands that now be near, now live in one house, now be married, Now we cannot live apart. It is impossible. This demand that now we cannot live apart creates the situation in which the other suppressed part will have its revenge. It will come up. It will begin to affect. Then the dream is shattered. But again, again we begin to believe now this person is just hatred. First we believe this person is just love. Now we again fall into the second trap, other trap. Now this person becomes just hatred, poison. This again is just a projection. Again, the other part is being projected. And we go on living in these projections. This is the power of Maya. This is the inner magic of your mind. It, it can project and then it can create disillusions for itself. It can create dreams and then it can believe in them. Both. It can create and can believe in them. And when those dreams are settled, it is not that one becomes aware of this whole fallacious game when the dream is shattered again, you begin to create another dream. The shattering of particular dreams is not the shattering of the Maya. The Rishi says, the Maya is a natural capacity to hypnotize oneself. It is auto-hypnosis. auto hypnosis can create things which are not. And this auto hypnosis can hide things which are. And the forest speaker of the truth, of the real, this has to be understood. This has to be felt very deeply. This power this Maya, must be understood deeply because this is our bondage. This is our ignorance. This is our infinity. This is our suffering. Creating dreams and then creating frustrations. Creating illusions and then disillusionment. And one goes on repeating life and life one goes on repeating and the power goes on working again and again but whenever we are disillusioned we are not responsible for it the other one the situation the object is responsible when we create this illusion then again we are not responsible the other one the object, the lover, the beloved, the world, they are responsible. This, this happens because the projector is within. We never become aware of the projector. We always become of the projected scene, of the projected phenomena. Just as in a, in a cinema hall, the projector is behind no one looks back to see the projector. The projector is behind. Everyone is facing the screen. And on the screen are just projected images. The real, the power is behind. The film, the power to project is behind. But no one looks at, at the projector. Everyone is looking at the screen. The whole world is just a screen. The whole objectivity is just a screen. And the projector is within. And we go on projecting images on the screen of the world. And then we begin to believe. Whatsoever we see on the screen, we begin to believe. This is Maya. The capacity to project images on the screen of the world. If you stop your projections, the whole world just withers away, just disappears. And when the world disappears with your maya, with your projective mechanism, when the screen remains just the screen without the images, you are face to face with the Brahma. Brahma is the screen, but we have never seen the screen because there is a continuous flow of images. One image is followed by another. One image is replaced by another. There is a gap, but we are so much concerned with images that the gap is never felt. Slow down your projecting. Slow down your projecting machinery. Sometimes it happens in the cinema hall. Some defect in the mechanism and the film is slowed. And then you see the gaps. One image has gone, another has not come, and there is a sudden gap, and the screen is seen. By meditation, we try to slow down the mechanism of projection. If the mechanism is slowed down, and even for a single moment you begin to be aware of the gap imageless gap of the screen, you have the glimpse. Suddenly you know that you had lived in dreams of your own creation. And whatsoever you have known as the world was not the world really, it was your world. Pearl Buck has written her autobiography she has named it My Several Worlds. It is good. The title is good. Everyone is living in several worlds, in several dreams, in several projections. And you can continue forever. That's why the moments of suffering sometimes become blissful. The moments of suffering. Suddenly you cannot project now. The person is dead. You cannot go on projecting on him. You will need some time to find out some another object to project the same dream. There is a gap. So sometimes death, sometimes deep suffering, sometimes illness, Sometimes sudden dangers and the mechanism falters and you have the gap but we are cunning we are so cunning we just close our eyes the moment there is a gap we just close our eyes someone has died you begin to weep and your tears will become a screening phenomena and you cannot see the gap. The gap is there. Someone has died. Now be aware and see that the object has disappeared and your dreams are just in a vacuum and they cannot find an object. Be aware in this moment and you may be able to see the gap, the screen, not, the, not your world. But no, the mind is cunning. The moment there is a sudden gap, our eyes are filled with something else again. We are not able to look in the interval. One is weeping and crying. And he will weep and cry unless he can find another object. Again to laugh. Again to live again to create the old illusion. Buddha says, when there is death, meditate. Meditate on it. This is the moment. When there is suffering, meditate on it. When there is disillusionment, meditate on it. This is the moment. Don't lose this moment in anything which deviates you from the gap this mechanism, this capacity, this power to create illusions is Maya. It is there and very real because it works. Very real and very actual because it works and we are in it. This auto-hypnosis must be broken. Otherwise, you are never face to face with the reality. And unless one is face to face, unless one is in an encounter with the real, one is not. One is just asleep. You can dream only if you are asleep. And you can project only if you are in ignorance. So ignorance means spiritual sleep, a spiritual somnambulism. This ignorance you cannot destroy by learning more and more. By any information, by any accumulation of knowledge, this ignorance cannot be destroyed. Because this ignorance is not the lack of knowledge. This ignorance is a positive capacity of your own. It is not just negative absence of learning and knowledge. So one can be a very learned man and still in illusion and still in the same hypnotic trance in the same sleep that is the difference between knowledge and wisdom wisdom comes when there is no ignorance ignorance conceived as a positive force of maya not just absence of learning information, not just absence. And wisdom comes only when there is no ignorance. This positive energy which is creating illusions just stops to create. Knowledge means ignorance is still there but hidden, hidden in information. And you can hide it. You can cover it. You can create a false sense of knowing without knowing at all. Scriptures can help. Teachers can help. Religions can help. Philosophies, systems can help. Only meditation will not help you to create a false sense of knowing. Everything else can help. Help this dreaming. Only meditation cannot help you. Only meditation can destroy the whole structure of ignorance and so-called knowledge. And then there is a sudden burst of wisdom. Then you are face to face encountering the real. Meditation is a technique to destroy another another natural technique of auto hypnosis maya maya can be destroyed only by meditation because meditation brings your mechanism of projections to a halt. And if you can go deep, it comes to a full stop. The moment it comes to a full stop, the whole changes. You are transformed and you are in a new world, in a new consciousness. That consciousness is Brahma. As we are, we are in Maya, as we can be, as is our potentiality, is Brahma. This seed of Brahma, this seed of supreme consciousness is covered in ignorance, in Maya. So use meditation as a technique of dehypnosis. Maya is hypnosis. Meditation is de-hypnosis. Of course, it looks like hypnosis. Because it is going back on the same path you have come. It is retracing your steps back. So it looks like hypnosis. In a way, it is hypnosis, only the direction is different in hypnosis, you are projecting things. In dehypnosis, you are taking your predictions back. Collecting back your predictions. Bringing back the wave of your predictions back into the projector. It looks the same. Only the direction is just the opposite in hypnosis you go far away from yourself on the same path in dehypnosis you come back on the same path but towards yourself so meditation is dehypnosis the technique to dehypnotize yourself from a natural hypnosis from a natural power called Maya. Now we should start the hypnosis. अब शुरू करें हम ध्यान